आठवीं हमारे खुदावंद हमें और हमारे भाइयों को मुआफ़ करें जिन्होंने हमसे पहले की हैसियत से हमसे पहले किया है और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए उबाल नहीं बनते हैं जो यकीन करते हैं